बुजुर्गण धर्म प्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारी अपने जीवन को उन्नत बना करके ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचना यह व्यक्ति का प्रमुख कार्य है साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि अन्यों को भी इस स्थिति में पहुंचाना प्रमुख कार्य है कभी कभी व्यक्ति सूक्ष्म साधनों को और सूक्ष्म बाधकों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता उनको साधारण स्थिति में देखता है सूक्ष्म साधनों को जिनको ग्रहण करने से व्यक्ति को सफलता मिलेगी उसको वो सामान्य साधारण मान के छोड़ देता है इसका क्या ग्रहण करना है सूक्ष्म बाधकों को व्यक्ति साधारण बाधक मान के उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता परिणाम इन दोनों स्थितियों का ऊंचा जीवन उन्नत जीवन न बनना है ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने और अन्यों के जीवन को उन्नत आदर्श रूप उन्नत नहीं बना सकता कुछ उदाहरण इसके दिए जा सकते कभी किन्हीं कारणों से किन्हीं घटनाओं से किन्हीं व्यवहारों से किसी व्यक्ति के साथ कुछ मनमुटाव हो गया कुछ विचारों में तनाव हो गया किसी दूसरे के दोषों के कारण कुछ परस्पर एक साथ द्वेष उत्पन्न हो गए कालांतर में यदि इनको न बढ़ाया जाए और इनको भारने का प्रयत्न न किया जाए राग द्वेष को मंद स्थिति में चले जाते हैं यदि उभार मिलता है बीच बीच में तो वही सामान्य द्वेष ईर्षा उत्कर्ष स्थिति को प्राप्त होता जाता है और वो विशेष बाधक बनता है उग्र रूप में द्वेष ईर्षा नहीं है पुनरपी यदि उस व्यक्ति के प्रति जो कुछ ईर्षा द्वेष उभरे थे वो विचारधारा वो उस व्यक्ति का मानसिक स्तर बहुत सूक्ष्म होता है ध्यान देने से दिखाई देता है उसे दिखाई भी नहीं देता यदि व्यक्ति ध्यान अवस्थित होकर के देखे कि मेरा किसके प्रति द्वेष सूक्ष्म ईर्षा रहती है तो वो ज्ञात हो जाएगा कि उस व्यक्ति के साथ में मेरे मन में कुछ ईर्षा द्वेष है बहुत सूक्ष्म इस प्रकार से जब वो ध्यान देता है उसको शांत अवस्था में पकड़ लेता है जान जाता है तो उसको वो दूर कर देता उसके दूर करने के पश्चात जो सूक्ष्म ईर्षा द्वेश मनस्थिति पर रहते हैं उनको हटा देता है कोई भी देश अथवा दूसरे पक्ष में राग उसकी मनस्थिति पर दिखाई नहीं देता मन में उसने ध्यान से देख करके एक एक को ढूंढा और जहां कहीं भी कोई भी घटना हुई उससे द्वेष उत्पन्न हुआ या किसी घटना से राग उत्पन्न हुआ उन सबको जान जाता है कोई ऐसी घटना जिससे द्वेष उभरा हो या राग उभरा हो ओझल परोक्ष में नहीं रहती इस स्थिति में जब वो अपने आप को ले जाता है उस समय जो जिसको आप बोलते हैं सार्वभौमा महाव्रतम अहिंसा के विषय वो स्थिति उत्पन्न होती है सार्वभौमा महाव्रत यदि इस प्रकार की गवेषणा परीक्षण न किया जाए तो ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ये सार्वभौमा महाव्रतम अहिंसा के है किसी प्राणी के प्रति किसी भी पदार्थ के प्रति उस व्यक्ति के मन में द्वेष नहीं होता उस स्थिति में जो ये विचारता है सोचता है किन्हीं विषयों को लेकर वो इतना ऊंचा स्तर होता है सोचने का कि उस स्तर पर विचारता हुआ व्यक्ति ऐसी सूक्ष्म अवस्था में बौद्धिक स्तर पर चला जाता है जिसमें हम देखते हैं कि ज्ञान बुद्धि का विकास हो रहा है विकसित हो रहा है शांति की स्थिति उभर रही है ये स्थिति जिसको हम कहते हैं जाति देश काल समय छन्ना सार्वभौमा महाव्रतम उसका ये स्वरूप है इसके साथ कई एक ऐसे भाग हैं इस स्थिति को ऐसे बनाने में सबके प्रति द्वेष की स्थिति समाप्त हो जाए इस स्थिति को बनाने में कुछ साधन है जिनसे ये सरलता से बनती है यदि व्यक्ति को सुख और सुख साधनों में राग होगा कुछ भी तो ये स्थिति नहीं बनेगी क्या समझ में आया दोहराओ क्यों जी आप बोलेंगे क्या समझ में आया क्या सहायता कहां से कैसे मिल सकती है हमको ऐसी स्थिति बनाने के लिए कि हम किसी प्राणी के प्रति भी वैर भाव न रखें सुख और सुख के साधन उनमें उनमें यदि कुछ भी इच्छा हमारी रहेगी तो ये स्थिति नहीं बन पाएगी कुछ भी इसमें सुख और सुख साधनों में राग होगा एक अलग विषय है याद रखना उन खाना पीना शरीर को स्वस्थ रखना बलवान बनाना जीने के साधन उनका उपार्जन और उनके प्रयोग का निषेध नहीं है ये तो समझ में आ गया है नहीं हम्म? हाँ जी वरुण जी क्या समझ में आया साधनों के उपार्जन और प्रयोग का निषेध नहीं है बल्कि उनमें राग रखने का उनकी राग पूर्वक इच्छा रखने का अब फिर हमने ये देखा ये जो राग उत्पन्न होता है उससे द्वेष होता है ये कैसे हटता उसने ये देखा कि जिस सुख और सुख साधन को मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो तो नाशवान है रहता ही नहीं उस समय में यदि राग रखूंगा तो जब वो नष्ट होगा तो बहुत भयंकर दुख होगा अब भी आशंका बनी रहेगी ये नष्ट होगा ये नष्ट होगा कहीं नष्ट होगा या नहीं समझे मेरे बात सुख और सुख साधन से आप लाभ उठा रहे पर ये भय बराबर बन रहा है कि नष्ट होगा ये नष्ट होगा ये नष्ट होगा या नहीं रहेगा यदि बुद्धि ठीक काम करती है तो बना रहेगा क्योंकि जैसा है वो अंत इसका और मेरा वियोग निश्चित सुख और दुख साधन जब ये बुद्धि बनी रहेगी तो उसमें राग नहीं राग होता है तो फिर दुख होता है वो जा रहा है जाएगा ये रुकता है इसको कोई रोक ही नहीं सकता तो जाने का जो दुख है वो इसे हटा नहीं सकता यदि ऐसा न हो तो राग को हटाया नहीं जा सकता फिर आप ऋषियों के शब्द प्रमाण को ले लो थोड़ा फिर वो कहता है ऋषि क्या कहते हैं ऋषि कहते हैं ये सुख और सुख साधन जो है इसमें परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुणवत्ती विरोध दुख इस सुख के साथ में इतना दुख भोगना पड़ता है इसको मैं क्यों चाहता हूं अपने आप से पूछता है आप पूछने का अभ्यास करें आत्मनिरीक्षण यदि आप ऐसे नहीं पूछते तो इस अवस्था को नहीं समझ सकते इस स्थिति को अपने अधिकार में नहीं ला सकते कि हम ऐसा अपने आप को स्थिर बना सकते नहीं ला सकते उसमें जहां अपना अनुभव कार्य नहीं करता हमको तो सुख ही दिखता है कल्पना एक सेकेंड हमको सुख साधनों में सुख ही दिखता है पर ऋषि तो यह कहता है दुख में वह श्रम विवेकी ने विवेकी के लिए तो दुख ही है सुख भी तद भी दुख सबलम इति दुख पक्षे निक्षेपण थे विवेचका ये ऋषि भी यही कहता है अब प्रत्येक ऋषि यह कहता जाता है क्या ये सत्यवादी सत्यमानी आदर्श व्यक्ति जो जीते इसके लिए थे कि सत्य क्या और असत्य क्या उनकी बात ठीक ना हो और मेरा दिमाग जो करता हो ठीक हो इसमें क्या प्रमाण नहीं आज अपनी बुद्धि को ठीक करना हो तो ये टकराव दिखाना पड़ेगा इसमें क्या प्रमाण है मैं जो तो नहीं मान रहा हूं अपने से पूछो यदि प्रमाण है तो ऋषि की बात छोड़ दो ठीक है यदि प्रमाण नहीं है तो उनकी बात मान लो अपनी छोड़ दो ये संबंध ये विचारधाराएं प्रत्येक व्यक्ति के साथ अनिवार्य रूप से संबद्ध रहती हैं कोई काल्पनिक नहीं है कि कोई इनको करे कोई नहीं करे ऐसा ये तो अनिवार्य है इसमें आना ही पड़ेगा यानी व्यक्ति या कोई बात इस विचारधारा को लेकर ये निर्णय करना ही पड़ेगा इस रूप में आप इसको नहीं छूते नहीं करते तो राष्ट्र में कहीं किसी को प्राप्त नहीं कर सकते फिर अपनी भूल को समझने के लिए बार बार अपने जीवन में हमने कितनी भयंकर भूलें की बार बार उनके काम किए बार बार उनका फल परिणाम भी देखा बार बार रोज प्राय देख लेते आज ये भूल ऐसा करना था ऐसा कर दिया जब मेरा मिथ्या ज्ञान होता है नहीं समझा बार बार मिथ्या ज्ञान मेरे दिमाग में बुद्धि में रहता है पता चला तो ये भी तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है समझवा नहीं है ये ऋषियों की बात से विपरीत जो मेरी बुद्धि बनी ये भी तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है आश्चर्य की क्या बात है असंभव क्या बात है तो ये भी हो सकता है विद्या का विद्या का संशय क्या समझ है जी क्या समझ में आया जब दिनचर्या में ही मेरे से कई बार भूलें होती हैं हम्म। और मुझे बाद में लगता है कि ये वाली गलती शत प्रतिशत भूल थी वैसे और वैशेषकार ने बात क्या कही मीनासम कभी किसी भी विषय में तो ज्ञान होता है और कभी विद्याचार होता है इसे संशय होता है ये मेरा ज्ञान ठीक भी है या नहीं कुछ समझ में आया अब वो ये जब देखता है बार बार उल्टा करता हूं फिर बार बार निर्णय भी ले लेता हूं निश्चित रूप से मैंने भूल की है तो ये भी भूल हो सकती है इसमें क्या प्रमाण है कि ऋषि की बात तो झूठ और मेरी सत्य क्या प्रमाण है फिर आपको बतलाया था कि ऋषि की बीस बात हमारे सामने आई कल्पना कर कुछ याद होगा उन बीस बातों को लिया हमने और देखा कि अल्पज्ञ होने के लिए एक भूल भी हो सकती है या दो भी भूल कल्पना पर 18 बातें जो कितने सत्य होंगी तो दो प्रतिशत हानि होगी तो अठारह प्रतिशत लाभ होगा अब आप सब हमें संशय करते हैं तो बताओ क्या हो आप ही नेता गुरु आचार्य बनेंगे सारे निर्णय आपकी बुद्धि से होंगे आनंद को प्राप्त किया होगा कुछ समझ में आ रहा है क्यों जी विशेष जी क्या समझ में आ रहा है क्या आ अगर अपनी बुद्धि से निर्णय करेंगे हमने उन बीस की बीस बातों को अपने को निर्णायक मान लिया ऋषि भूल कर सकते हैं तो फिर उन अठारह बातों का निर्धारण अपनी बुद्धि से करेगा हमारी बुद्धि निम्न स्तर की नीचे नीची बातों को ऊंचा मानती है उल्टी को सीधा सीधे निर्णय को करके हम वैसा खिलाफ करेंगे तो परिणाम सारे उल्टे निकलेंगे वहां कल्पना कीजिए वो एक देशीय पज्य होने से एक दो भूल कर भी देगा तो करता ही है ये नहीं कहते क्या समझिया आप यार क्या आया ऋषि अल्पज्य एक देशी होने से उनसे भूल होने की संभावना है पर हर बार होती है हाँ, ऐसा नहीं होती ही ये सब जगह में ऐसा नहीं अब आगे बढ़ जाओ थोड़े यदि ईश्वर के विषय में ये ज्ञान हो गया सर्वव्यापक सर्वज्ञ है कभी भूल होती ही नहीं वहां पर संशय ही नहीं होगा शत प्रतिशत किसी काल में भी संशय नहीं हो सकता यदि हम ईश्वर को सर्वव्यापक सर्वज्ञ इस रूप में मानते हैं तो शब्द प्रमाण में फिर संशय नहीं हो सकता उसमें वो अवकाश वो स्थिति नहीं है जो जीवात्मा की इसलिए ऋषियों ने वैदिक ऋषियों की परंपरा में अपनी बात को इस रूप में लिखा या कहा कि ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव या वेदों की जो बात है यदि वो बात हमारी बात से टकराती है आपस में तो हमारी बात झूठ है और वो ईश्वर की बात वेद की बात मान लेनी चाहिए ऐसा ऋषियों का निर्णय है या नहीं पता आपको पर मैंने जहां तक अध्ययन किया इनकी बात जानी पाश्चात्य विद्वानों की विदेशियों की उनमें प्राय वो ईश्वर को एक रूप में नहीं मानते कि ईश्वर कभी भूल नहीं करता अंतिम निर्णय उसका है हमारे सर के निर्णय उसके सामने झूठ मानी जाएगी ऐसा प्राय नहीं देखेगा उनमें कोई अंतिम निर्धारण करना बड़ा कठिन हो गया कि अंतिम धर्म किसको माने मनुष्य में तो है एक विद्वान ने पाश्चात्य निर्णय किया समाज के समय रखते चलो व्यक्ति को कौन बनाओ ये धर्म है उसने धर्म मान लिया क्या समझे समाज मुख्य है व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ऐसी बात इकाई नहीं होगी तो समाज कैसे बनेगा आपकी बुद्धि सर्वज्ञ की बुद्धि है क्या अल्पज्ञ की आप क्या सर्वज्ञ हैं उनका मैं तो अल्पज्ञ फिर समाज का एक कोई ऊपर मान के चले व्यक्ति को ये क्यों अंतिम निर्धारण कर रहे हो तो वो चुप है का खंडन हो गया तीसरे ना व्यक्ति का खंडन कर दिया व्यक्ति को लान मान के चले एक एक वो निर्णय करते जाते हैं और वो सबके खंडित होते जाते हैं अंतिम धर्म कुछ नहीं बनता उनका अंतिम धर्म अंतिम निर्धारण किसी विषय में हो नहीं पाता इसलिए अंतिम निर्णय अंतिम सत्य अंतिम धर्म ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव ईश्वर का आदेश ऋषियों ने माना है हमको भी वो मानना चाहिए इन बातों को जो उठा उठा के ये समझाते हैं आपको ये समझाया जा रहा है ये विचारधारा ये सोचने का धन अनिवार्य रूप में आपके सामने रहेगा यदि उन्नत तो होना होगा अब कुछ ध्यान आध्यात्मिक विषय को अंतस्थिति की ओर से देखेंगे आप आप ये बताएंगे ध्यान काल में कभी विचार करने के काल में अथवा ध्यान काल की बात लो और जब आप कहते हैं ईश्वर समर्पण हम करें क्या उस समय आप संदेह रहित अवस्था में शब्द प्रमाण के आधार पर अनुमान प्रमाण के आधार पर ऐसा कहते हैं कि ईश्वर आप सर्वव्यापक हैं आप सर्वज्ञ हैं आप सर्वशक्तिमान हैं आप संदेह रहित अवस्था में ऐसा कह पाते हैं या नहीं कौन बोलेगा इस समय से आप बोलेंगे या नहीं स्वामी जी कहते तो हैं ऐसा कि है ना ईश्वर आप यही मौजूद हैं सर्वव्यापक लेकिन जो ईमानदारी की बात है कि अभी तक ये पूरी तरह निश्चय नहीं हुआ कि परमात्मा यही ऐसा ही मौजूद है जिस क्षण हो जाएगा वो शायद जीवन का बहुत अच्छा क्षण की स्थिति अपनी बताओ कभी कभी ऐसा होता है कि संदेह स्थिति होती और फिर वो थोड़ी देर बाद छूट जाती है वो छूटती क्यों है अभी इस विषय पर चिंतन किया पता नहीं चला आप बोलो कभी कभी की है फिर छूटती क्यों है पुरुषार्थ जैसे सर पूछा करता हूँ कि बनाने स्थिति बनाने के लिए ऊर्जा तो बोलो स्पष्ट भाषा पढ़ते समय बोलते समय अभ्यास किया जाना चाहिए कि अक्षर शब्द वाक्य सबको सुनाई दे घुली मिली गाजा नहीं बोलनी उस स्थिति को बनाने के लिए पहले जो पुरुषार्थ अब आपकी भाषा ठीक कर रही आप फिर वही रबड़ बुद्धि वहीं जाके चली जाते भाषा ऐसे बोलो अक्षर ऐसे बोलो दूसरे को अच्छी तरह सुना दे तीसरे को दूर तक सुने बात का पता चले घुल में नहीं जाए कोई उन कई हुई बात समझ हाँ उसको स्थिति बनाने के लिए जो पहले पुरुषार्थ करता है वो स्थिति बन जाती है फिर जिस उस स्थिति में जैसे जैसे पुरुषार्थ में जब न्यूनता होती जाती है तो वो स्थिति फिर छूटती है ऐसा मुझे लगता है आपने एक पाठ तो पढ़ाओ तत्र स्थितो अभ्यास वो क्या कहता है उस स्थिति को बनाने के लिए अभ्यास करना चाहिए मान जो यत्न किया जाता है वो अभ्यास है तो उसको पहले तो बना उसी को मैं फिर पूछ रहा हूं आपकी बनती है सीधे से आनंद जी ने बना तो क्या स्थिति है बनाने पर बन जाती है बन जाती है फिर वो तुमने यदि उसको छोड़ दिया तो छूट जाती छूटने से वो पता चलता है ना हाँ फिर क्या करते हो उस समय जैसी स्थिति या रुचि रहती उस विषय का चिंतन शुरू हो जाता है और दूसरे का जैसे हाँ जी आपकी कैसे उपासना काल में तो प्राय हमेशा स्थिति बनी रहती है व्यवहार काल में बीच बीच में छूट जाती है प्रथम इस स्थिति को बनाना परिश्रम से बनाना उसके पश्चात इसको बनाई रखना और ये संघर्ष चलता रहता वो बनाता है वो बिगड़ती है वो बनाता है वो बिगड़ती है जिन बातों विचारों से ज्ञान से बनाई जाती है वो दृढ़ होती जाती है और जो बिगाड़ने वाली विचारधारा है बुरे संस्कार में कोमल कमजोर होते जाते ये अंतर बढ़ता जाता है फिर कालांतर में लंबे काल तक बनी रहती फिर आगे बढ़ते फिर और लंबे काल तक बनी रहती फिर वो देखता है ये बिगड़ती कहां है वहीं इसके पीछे चलो क्या समझे आप नहीं समझ में आ रहा किस कौड़े में किस धारा में जाके ये बिगड़ती है उसके भाग दौड़ को तो लगाओ क्यों बिगड़ती है उसने कहा कहीं कोई चीज याद आ जाती है नास्तिकता की बात आ जाती है संदेह उभर जाता है या प्रलोभन की बात आई उसमें वो झुक गया है तो वो उसके पीछे लगता है मैं हम्म। मेरी बात पकड़ में कमाई होगी सर कुछ कमाई तो होगी ये कहा किस क्षेत्र से उभर ये क्या कारण नहीं था उभरने का नास्तिकता का <laughs> प्रलोभन है कहीं तो कहीं राग है तो कहीं द्वेष है कोई संदेह है कि नहीं विषयों में तो वो उसी को पकड़ता है कि जो संदेह उभरता है ये है वो कौना ये क्षेत्र ये क्यों करता उसको खाता फिर दूसरे को खाता फिर तीसरे को खाटता फिर ऐसा क्षेत्र कोई नहीं छोड़ता जहां आ फिर सीडीओ बन जाए पूरे विश्व में अच्छा अवधरा समादरणीय विद्वतगण धर्म प्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारी है मानसिक स्तर पर आपके विचार मान्यताएं कैसे कैसे बनती रहती उनमें मैं आपसे पूछूं कि क्या एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारियों का सुख दुख मान अपमान हानि लाभ अपने तुल्य समझता है या नहीं आत्मनिरीक्षण के साथ आप बताएं आप बोलें जैसे अपने लिए आप सुख चाहते हैं दुख नहीं चाहते उसी स्तर पर अन्य ब्रह्मचारियों का चाहते हैं या नहीं अच्छा और अधिक या औरों की अपेक्षा अपनी सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति अधिक बनती आपकी हाँ सभी क्षेत्रों में नहीं कर पाते कभी कभी कर पाते हाँ जी आप बोलो पूर्ण रूप से ऐसी भावना नहीं बनी है कभी कभी बनती है और कभी कभी बनती है और फिर हट जाती है अच्छा तो उसको आप ऐसे नहीं मानते ये हटाना बुरा है हानिकारक ऐसा नहीं मानते आप मानता हूं तो मानते हैं तो फिर हटाते क्यों है उसको आनंद जी बोलेंगे स्वामी जी अपने सुख के सदृश दूसरे का सुख तो नहीं देखता हूं लेकिन प्रयत्न यह रहता है कि दूसरे को दुख ना मतलब कोई स्थिति ही बनाता हूं हाँ कि दूसरे को दुख न पहुंचे पर अपनी सुख की मात्रा अधिक उसमें कह सकते हैं पैंसठ तक चली जाती अपनी और तो दस का अंतर रहता है पैंसठ और पैंतीस हाँ हाँ इतना अंतर रहता है पैंतीस कभी है ना दूसरे के लिए चालीस पैंतीस कर देते लेकिन अपने से ज्यादा ऐसा भी आया कि दूसरे के लिए साठ सत्तर तक कर दिया और हमारे लिए पैंतीस भी कर दिया हाँ। उल्टा भी हुआ वो कभी कभी हुआ होगा जी वो कम हाँ तो सतत व्यापक रूप से नहीं होगा हाँ जी आनंद जी की तरह दोनों प्रकार की स्थिति है हम्म अपनी की मानी आपका आप तो नहीं नहीं आपका कैसा रहेगा सतत नहीं रहता ये कभी कभी झलक के रूप में होता है सतत आप बोलेंगे कभी कभी स्थिति अच्छी बन जाती है हम्म। तो कष्ट स्वयं कष्ट कभी कभी बनती है फिर हट जाती है हटा देता हूं फिर अपना स्वास्थ्य आ जाता है मैं अपना ऐसा करूंगा तो मेरी हानि हो जाएगी हाँ जी उदयगी विशेष हाँ जी धर्मवीर जी ऐसा लगता है स्वामी जी की मैं अस्सी प्रतिशत हम्म। अपने समाज दूसरों को चाहता हूं अच्छा अच्छा बीस का अंतर रहता आप प्रचार के लिए गए थे प्रचार करके आ गया था अच्छा आप बोलिए अधिकांश में ऐसी बना पाता अधिकांश रहता है अपने लिए कम रहता है या समान समान अधिकांश में रहती है अच्छा आपको ये पता नहीं चलता वेद ईश्वर का गुणक्रम स्वभाव और ऋषियों का संविधान इससे मैं उल्टा कर रहा हूं ऐसा आपके मन में नहीं आता आप बोलेंगे आता नहीं आता क्यों आता क्यों नहीं आना चाहिए वो तो पता है आपको है विचार नहीं करना ऐसा नहीं आता विचार नहीं तो विचार ही नहीं करते तो फिर आप जीतेंगे कैसे <laughs> विजयी कैसे हो जाएंगे आप ध्यान देने की बात है जिस लक्ष्य को व्यक्ति पूरा करना चाहता है या पहुंचना चाहता है उसके लिए आपने सुना है साधनों का उपार्जन साधन क्या क्या चाहिए फिर बाधकों का जानना फिर बाधकों को हटाने का पूर्ण प्रयास ये स्थिति उसकी बनी रहेगी तो लक्ष्य पर तो पहुंचेगा नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा ये एक प्रसिद्ध बात है कि व्यक्ति आज कितने स्तर पर है पर जितने स्तर पर वो है उसी स्तर पर वो तन मन धन से सर्वस्व की आहुति देने के लिए उपस्थित है वो सतत प्रयासशील रहता है वो एक कमी नहीं छोड़ता फिर वो व्यक्ति जीतेगा आगे बढ़ेगा नहीं तो ये आशा नहीं की जा सकती अपने लक्ष्य की ओर बहुत आगे बढ़ जाए आप क्या मानते हैं ऐसा सोचते हैं जैसे मैंने कहा उसके विषय में हम्म, ये नहीं विचार करते कि ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव कैसा है वेदों में क्या उपदेश है ईश्वर का क्या संविधान है मैं इससे उल्टा जो कर रहा हूं ये तो मेरा बहुत शुभ हानिकारक कार्य है इसको मैं क्यों करता हूं ऐसा नहीं करते हुँ? हम्म? कुछ समय जिस समय ऐसी भावना उभरती है स्वार्थ की हम्म। तो उसमें अंदर से भय उत्पन्न होता है कि मैं क्या कर रहा हूं ऐसा हम्म। तो उसमें विचार करता हूँ हाँ जी आप बोलिए आप कैसे रहते हैं ये नहीं मानते सोचते जैसे मैंने बताया शाब्दिक रूप से तो होता है हाँ, लेकिन बुद्धि में पूरी तरह उतरती नहीं हाँ तो बुद्धि में नहीं उतरती तो वहां पर शब्द प्रमाण को अपनी बुद्धि से ऊंचा नहीं मानते क्या कुछ क्षेत्र में तो कर देता हूं हम्म। कुछ क्षेत्र में नहीं कर पाता कुछ में कर देते आप बोले जिस समय ये विचार आता है कि ये ठीक ही कर रहा हूं उस समय प्रयास करता हूं अपने स्वार्थ को गौण करने का हम्म। उस समय अपना स्वार्थ गौण हो जाता है प्रयास करता हूं करने का हाँ, हाँ। पुनरअपि कभी कभी सफल होता हूं कभी कभी असफल भी रहता हूं हाँ जी आप बोलेंगे वेदों की बातों को यथार्थ रूप में मानने का प्रयास करता हूं और जो बुरी भावनाएं बढ़ती है उनका विरोध भी करता हूं यथाशक्ति उसका जो विरोध करते हो वो अच्छे प्रकार से करते हो कुछ कर दिया कुछ छोड़ दिया कभी कभी कह दिया और उसमें अपनी मान्यताएं अधिक है प्रबल रही प्राय अधिक विरोधी करता हूं और हाँ आप क्या करते हैं फूल जो क्रियाएं हैं जिनसे हम्म। ऐसा लगता है हम्म। कि दूसरे को हम दुख दे रहे हैं हम्म। वो तो चिंतन के साथ ही होते हैं हाँ। उनमें भी कई बार होता सूक्ष्म जो अत्यंत सूक्ष्म है उनमें तो इतना नहीं हाँ जी आप बोलेंगे समझ में तो आ गया है क्या अच्छा, क्या रहता है आप कम विरोध करता हूं स्वामी इस विषय में अपनी मान्यताओं का कम विरोध उनका कभी कभी कर लिया ऊंचा स्तर रहता है वेद ईश्वर के स्वभाव से हाँ जी अपनी मान्यताओं का विरोध ही करता हाँ, पूरा या कितना अभी तो प्रयास कर रहा हूँ पूर्ण रूप से नहीं कर पाया आने तो प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी मान्यताओं का विरोध ही करता हाँ जी उदय जी मान्यता को कितने स्तर है अपनी मान्यताओं को जैसे आप पर्याप्त रूप में दबाते हटाते हैं तो दूसरे को सुख पहुंचाने की अधिक मात्रा रहनी चाहिए हाँ जी विशेष इसमें स्वामी दोनों प्रकार की स्थितियाँ रहती है हाँ तो मेरे को अनुकूल लगती इसमें की बात हाँ। उसको मान लेता हूँ हाँ। प्रतिकूल लगती उसको मैं छोड़ देता हूँ अच्छा अच्छा तो वो ब्रह्मचारी आशुतोष जी कहा करते थे ऋषियों की या वेदों की बात जो मेरे अनुकूल पड़ती है उसको तो मैं मान लेता हूं और जो प्रतिकूल पड़ती है मैं उसको पहले की बात है बहुत लंबे अब तो उनके विचारों में पर्याप्त परिवर्तन और बहुत कुछ उन्होंने सुधार बहुत कुछ अपने क्षेत्र में उन्नति की ये बहुत पहले की बात है आपको ये मन में बुद्धि में बात बैठ जानी चाहिए यदि हम आत्मवत दूसरे के सुख दुख हानि लाभ को यदि मानेंगे तो हम सफल हो जाएंगे हम योगी बन जाएंगे हम हमको ईश्वर की ओर से बहुत सुख मिलेगा ऐसा दृढ़ निश्चय आप कर लेंगे तो फिर आपकी मानसिक वाचनिक शारीरिक क्रियाएं उसके अनुरूप होने लगेंगी और ये जब संस्कार बाधा डालते हैं विचारधाराएं पहले की मान्यताएं बाधा रूप में आती है उनका प्रतिकार उनका विरोध करते रहना पड़ता है ऐसी कोई मान्यताएं नहीं होती जो आप पढ़ लें और सुना दें और वो उल्टी मान्यताएं समाप्त हो जाए जितनी गंभीर सूक्ष्म होती है उतना उन पर अधिक परिश्रम करना पड़ता है और जितना हमने पूर्व जन्मों में ऐसा अभ्यास किया इस जन्म में ऐसा उल्टा अभ्यास किया वे मान्यताएं अत्यंत दृढ़ होती उनको दूर करने के लिए भी अधिक पुरुषार्थ लंबे काल तक परिश्रम अधिक ज्ञान अधिक वैराग्य की आवश्यकता रहती है चलती जाती है कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी देखता है व्यक्ति अपनी मैं 20 बरस से लग रहा हूं कोई बड़ा होगा तो कोई मैं चालीस बरस से लग रहा हूं अरे मेरे मन में चोरी करने की इच्छा वो अब भी नहीं हट पारी बाहर से तो चोरी छोड़ दी या नहीं होता है होता है नहीं शिक्षण शिविरों में भाग लेते लेते एक व्यक्ति यहां आत्मरीक्षण में रहते थे बरसों की लंबे काल की बात हो गई तो उससे पूछा गया या आज दिन में कोई बिना किसी के पूछे कोई वस्तु ले लेते हो और कहीं किसी की चीज उठा लेते हो तो उसने बताया कि मैंने दिन में वहां से नींबू लिया था बाघ से बिना पूछे अब वो व्यक्ति तो पचास साठ वर्ष के हो सकते आपको जो उपदेश दिया जाता है प्रशिक्षण दिया जाता है तद अनुरूप आप परिश्रम क्यों नहीं करते क्या कारण देखते हैं आप आप बोलो जितना परिश्रम आपको पढ़ाने सिखाने उपदेश देने में किया जाता है उतना परिश्रम तो आप नहीं करते या करते अगर नहीं करते हो आप क्या करते उतना परिश्रम नहीं करते हैं अच्छा जो करते हैं ये मानते हैं उतना आप तो जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते ये बताओ बोलो क्यों नहीं से बचना चाहते हैं एक बात ध्यान देने की है हमारा शरीर तीन द्रव्यों से तीन सत्व रजतम से बना ये तो आप मानते हैं हम सभी इंद्रिया सभी कुछ इससे बना हमारे शरीर में स्वभाव है ये उभरते हैं और उभार भी लिए जाते हैं क्या समझ में आया और इनको दबा भी दिया जाता है रोग भी दिया जाता है या नहीं होता है आपने सुना होगा या नहीं सुना हो तो पढ़ भी सकते मनु महाराज ने कहा जब जब ये ये विचार उठे मन में ऐसी विचारधाराएं बने तब तमोगण को प्रधान समझना चाहिए जब सेवा भाव ऊंचे भाव दूसरे के भले के भाव तब सतोगुण सतोगुण की प्रधानता समझनी चाहिए जब चंचलता ऐसी ऐसी स्थितियां हों तब रजोगुण की प्रधानता समझनी चाहिए फिर ये संकेत है कि जो जो व्यक्ति जिस जिस गुण के साथ जितना जितना अधिक प्रभाव बर्ताव करता है वह वह गुण उस व्यक्ति को वैसा ही बना देता है वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है आप अधिक सोने लग जाओ सोते रहो बहुत सो बहुत कम ही कार्य करो सोते जाइए सोते जाइए नींद पड़ती जाएगी सोते जाइए सोते जाइए <laughs> नींद पड़ती जाएगी और हो सकता है आप चौबीस घंटे में भी तृप्ति को प्राप्त न करें नींद की को ऐसा नहीं हो सकता क्यों बढ़ाते जाइए फिर कहां जाएंगे आप तृप्ति तो होनी नहीं एक बार गांव में थे गुरुकुल का जैसे अन्न संग्रह करते हैं ऐसे कार्यक्रमों में चले जाते और चर्चा चल पड़ी से भाई कौन कब सोता कब उठता कब उठते सोते हो तो एक व्यक्ति की बात कही गई तक तो इससे ये भी पता चला कि जो जो व्यक्ति जिस गुण का अधिक प्रयोग करता है वह व्यक्ति उस गुण जैसे स्वभाव गुण करो स्वभाव का बनता जाता है अब चाहे तो सात्विक बना लो अपने आप को चाहे राजनीतिक स्वभाव का बना लो चाहे तामसिक ये बनाना आपके ऊपर हो रहा आपको एक घंटा फावड़ा दे यहां और खूब चलाए और फिर दो घंटे चलाए तो उसको अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे आप हाँ या बोलो शारीरिक दृष्टि से अच्छा ही माना जाए शारीरिक हम्म? परिश्रम होगा तो अच्छा माना प्राय व्यक्ति शारीरिक परिश्रम से डरता है घबराता है या नहीं होता है कभी कभी व्यायाम की दृष्टि से कर लेता है कि व्यायाम होगा शरीर का है कोई शारीरिक परिश्रम से मुझे आनंद मिलेगा सुख मिलेगा ऐसे विचार कम रहते हम जब गुरुकुल झज्जर में ये कार्य करते थे शारीरिक कार्य कैसे फावड़े लेते थे और कितना करते थे तो आप में से यदि ऐसा कोई कार्य करने लग जाए जैसे हम करते थे तो एक का बचना यहां कठिन है सारे बार जाओगे का यहां रह, रहना कठिन है यदि एक दिन दो दिन कार्य करवा दिया जाए अब देखो एक समस्या और सुनाता हूं नीम खोदी जा रही है भवनों की सभी लगे हुए हैं लगातार फावड़ा चल रहा और स्वामी ओमानंद जी खड़े हैं हमारे पास हम लगे हुए अब घंटा हो गया डेढ़ घंटा हो गया खोदते खोदते अब रुकते हैं तो उनसे डर लगता है नहीं रुकते तो शरीर टूटने लग गया क्या करें <laughs> बताओ और इतना ही नहीं वो धमकाएंगे तो डंडे से मार मार के उस व्यक्ति को <laughs> क्या करेंगे <laughs> ये डर अब मैं क्या करता था अब सुनाता हूं उसको खोदते खोदते वह थक गया और स्वामी जी वहीं खड़े हैं मैं वहीं भौड़ा दे के विश्राम करने लग गया मैं ये करता ही उनको दुख तो होता था है और बीच में मेरा मेरी अवस्था बड़ी थी जैसे ठीक है ना तो फिर लग जाता मैं और वो ब्रह्मचारी सारे के सारे लगे रहते लगे रहते रुकते ही नहीं जब तक आचार्य जी खड़े रहते पता नहीं और हमारे जो पैर है ना इतने भयंकर जिसको दर डाक बोलते अरे वो निकलते हैं ना जब अंकुर वो सुए की तरह भयंकर होते हैं जैसे लोहे का सुआ होता है है नहीं समझा देखिए दर्द का प्रकरण आता है ना यज्ञों में रखो दर्द को रखो वो मर्दा कम होता है दर्द तो ऐसे यहां भी मिल जाएगा ना और उसकी सीख निकलती है उसकी झाड़ू बनाते नहीं देखी वो जब नए अंकुर होते हैं ना उसमें गोल गोल होते जैसे पांच के होते गोल गोल और वो इतने उसके ऊपर रख जाते तो एकदम अंदर घुस जाए कांटे इतने भयंकर और खेती पकी हुई खेती गेहूं काटने लग रही या कोई जवाब और उसमें कोई लेस मात्र जूता या चप्पल नहीं मिले और धड़ाधड़ चल रहा है काटो लग रहे हैं अच्छा इसका मेरा अधिक अभ्यास था खेती आदि करने कराने का ठीक है ना तो कई कई ब्रह्मचारी जितना मैं खेत का काम करता था आगे उसको करते करते करते अभ्यास हो गया पुरुषार्थ करने का परिश्रम करने का सहन शक्ति ये शारीरिक जो व्यक्ति में शक्ति आती है दृढ़ता आती है वो व्यक्ति इनको सह लेता है वो परिश्रम किए बिना नहीं आती व्यायाम भी इसका बहुत बड़ा भाग है व्यायाम से भी ये सहन शक्ति बढ़ती है और परिश्रम शारीरिक कार्य से भी बढ़ते इसी प्रकार से हम मानसिक स्तर पर जो परिश्रम करते हैं मन के माध्यम से वो भी ऐसे ही चलता है अच्छा आप ध्यान में बैठते हैं तो पांचों वृत्तियों को ठीक प्रकार से रोक लेते हैं आप बोलेंगे कुछ समय के रोक लेता पता चलता है पांचों वृत्ति रोक गई या नहीं पता चलता ऐसा लगता है कि पांचों रुपये कुछ समय आप हो कुछ समय के लिए रोक लेता हूँ स्वामी कितना समय लगा ऐसे जब अच्छा मन तो लगता है ध्यान में तो दस मिनट पंद्रह मिनट तक आपको एक एक व्यक्ति का क्षेत्र स्वरूप दिखाई देता है ये स्मृति व्यक्ति थी मैंने रोक दी ये प्रमाण व्यक्ति थी मैंने रोक दी ये विप्रिय व्यक्ति थी ये मैंने रोक दी ऐसे पता चलता है कुछ हरेक के ऐसी गहराई में नहीं है स्वामी हाँ जी आप बोलो नहीं रुक आप बोलो एक घंटे तक नहीं रोक पाता बीच बीच में उठा लेता हूं पर वृत्ति कौन सी है इस पर विशेष ध्यान नहीं देता ये वृत्ति है इसको हटाना है बस ये ध्यान देता तो उसके बिना तो फिर आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि मैंने स्मृति वृत्ति को पूरा रोक दिया ये स्मृति वृत्ति का भाग है यह विपरीय वृत्ति का भाग है या प्रमाण वृत्ति का भाग है हमने जो विषय बनाया है स्वामी हाँ। ईश्वर का या जीवात्मा का जो उस विषय से भिन्न जितनी भी वृत्तियां हम उठाते हैं उन सबको हटाने का प्रयास करते हैं तो इससे ये कुछ ज्ञान हो जाता है कि हमारा जो विषय है उससे भिन्न जितना भी है हमारे चित्त में वो सारी वृत्तियां ही तो उनको हटाने का प्रयास करते हैं आपका कैसा रहता वृत्तियों का पता चलता है जाता है ये नहीं पता है पढ़ता है कि कौन सी वृत्ति है अच्छा मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है आप ध्यान काल में ईश्वर को दूर मान के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं कैसा रहता है प्राय व्यक्ति जो ध्यान में बैठता है वो ओम भूर भूअ स्व बोलता है भू जो प्राणों का भी प्राण और की स्थिति ये बनी रहती है जैसे ईश्वर कहीं दूर देश में होगा उसकी मैं स्तुति कर रहा हूं ऐसे किसका बनता आपको बताइए कैसी बनी ईश्वर समीप है ऐसी स्थिति समीप में भी है अच्छा जहां आप हैं स्वयं वहां ईश्वर दिखाई देता है या आप दिखाई देते हैं दोनों दोनों की स्थिति बने रहती हम्म? दोनों की स्थिति बन, बनती है दोनों दिखाई देते हैं वाह तो मतलब शांत कमांड के आधार पर या आप जब ढूंढने लगते हैं तो एक और ईश्वर है एक और आप दोनों की स्थिति आपका कैसा रहता है दोनों की स्थिति बन जाती बनती है स्वामी कैसे जैसे व्यापक व्यापक भाव जैसे समुद्र में समझती डूबी हुई है जैसे लोग हम अपने माता पिता गुरु जी के पास बैठते ना जी उससे बात करते हैं तो हम एक भाग में हैं गुरु जी एक भाग में हैं ईश्वर से ऐसे बात करते हो या कैसे ऐसे नहीं लगता आप ऐसे करते हैं ये ईश्वर मुझे बुद्धि दे दो मुझे ये दे दो ये मांगते हैं तो वहां से नहीं लगता मैं एक कोने में और ईश्वर एक कोने में ऐसा कभी कभी कुछ क्षण के लिए हो, हो सकता है पर वो अधिकांश अच्छा रहता है कि मैं उसमें डूबा हुआ हूँ हम्म। जैसे कोई पानी में कोई डूबा हुआ डूबी हुई हो और मैं उसी में डूबा हुआ ऐसे अनुभूति होती है जब उसमें आपने आपको डूबा हुआ देखते हैं ना है जी उस समय जहां आप हैं स्वयं है जी स्वयं जा रहे थे ना आप स्वयं और समुद्र में आपने गोता लगाया समुद्र में लगा दिया तो गोता लगाने पर भी आप ये देखेंगे जहां मेरा शरीर है वहां पानी नहीं है क्या जहां पर शरीर व्यापक है पानी आप ये मानते और जहां मेरा शरीर है वहां पानी नहीं है ऐसा आप बोलेंगे ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं होता मेरा तो नहीं होता स्वामी कैसा होता है जैसे दुबला गिरासा रहता है ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक साथ खुले मिले हुए हैं हम्म। और दोनों की अनुभूति एक ही स्थान पर हो रही है ऐसा हाँ, हाँ जी आनंद दो तीन बातें हैं हम्म। एक तो यह है कि वृत्ति रहित स्थिति तो बनाई हम्म। जीवात्मा का आज तक अनुभव नहीं किया हाँ। परमात्मा में गोता लगाने का प्रयत्न किया है कि परमात्मा मेरे चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर हर जगह मौजूद और जो ये कहता मेरे और है उसका ग्रहण वो नहीं है आपको अंदर बाहर भी आ गया ना जो ये कहता ना परमात्मा मेरे बाहर भी चारों ओर है उसका जो ये कहता है उसका अनुभव नहीं हुआ नहीं उसका ऐसा अलग से आप तक अनुभव नहीं हुआ कि मैं एक जो है पदार्थ हाँ उस शरीर को ही आत्मा मान रहा है ये बात अलग है कि पृथ्वी रहित लिया आए पर ये बात मन में नहीं बैठी मैं एक पदार्थ हूँ मैं से अलग हूँ मैं आनंद नहीं ये तो बहुत कम क्षण के लिए आ पाया हाँ तो वो आपको ये नहीं देता मैं एक पदार्थ हूँ एक वस्तु हूँ ऐसा नहीं अनुभव होता बहुत ही कम क्षण के लिए हाँ जी आप बोलो कौन बताएगा होता है विषय क्या अनुभव होता है अच्छा मैं पदार्थ हूं इसमें आपका अनुभव है कैसे सिद्ध करता है मैं पदार्थ हूं आपका अनुभव शब्द प्रमाण से तो है आपका अनुभव कैसे सिद्ध करता है इसको मैं पदार्थ हूं आप बोलो मैं हूं हम्म, ये जो अनुभूति है तो यह अनुभूति किसी द्रव्य पर ही आश्रित हो सकती है इसको हम्म। अनुभव करने वाला कोई सतात्मक पदार्थ होगा हम्म। बिना उसके ये अनुभूति नहीं हो सकती आपको ये नहीं मैं हूं इसका खंडन मैं कैसे करूं इसका खंडन हाँ मैं हूं हाँ। और ये मानू कि मैं वस्तु नहीं हूं अच्छा अब विराम रंग धर्म प्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारी अपने जीवन को सफल कृत कृत्य बनाने और अन्यों के जीवन को भी कृत कृत्य बनाने के लिए चरम लक्ष्य साफल्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना इसी प्रयोजन के लिए हमारा जीवन है और कोई प्रयोजन हमारे जीवन का नहीं है गौण प्रयोजन सामान्य लक्ष्य साधारण लोगों की प्रवृत्ति जहां रहती है वह थोड़ा सा लौकिक सुख है वास्तव में मुख्य लक्ष्य कृत कृत्यता तो ईश्वर प्राप्ति करना करवाना मोक्ष प्राप्ति करना करवाना ही है जो व्यक्ति इस लक्ष्य को मुख्य प्रयोजन को नहीं जानता नहीं समझता समझने का प्रयास नहीं करता और समझने पर आचरण में नहीं जाता वह व्यक्ति विफल है निष्फल है प्रयोजनहीन है वह ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वाला है जब आप देखेंगे कि मैं ऐसा हूं ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वाला हूं तो ये ठीक नहीं है जिस ईश्वर में कोई दोष नहीं है सब प्रकार से परिपूर्ण है अपना व्यक्तिगत कोई प्रयोजन नहीं है अनादिकाल से हमारे लिए ही सृष्टि को बनाता चलाता इसकी प्रलय करता है और इसी भांति आगे भी करता रहेगा उसकी आज्ञा के विरुद्ध मैं आचरण करूं तो ये कितना भयंकर दोष है इस दोष को समाप्त करना हटा देना कभी यह विचार कर सकते कि हम इतनी ऊंची स्थिति में ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि में कैसे पहुंच सकते हैं इस संबंध में ध्यान रखिए आप मुख्य साधनों को और मुख्य पाठकों को जान लीजिए और मुख्य साधनों का प्रयोग और मुख्य बाधकों का विनाश करने में प्रयासशील हो जाइए तो ये कोई असंभव बात नहीं आप ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में न पहुंचे अति निर्बल अत्यंत अल्प योग्यता जिसको बोलते हैं उन व्यक्तियों को छोड़ दीजिए पर वो भी पुरुषार्थ करते हैं प्रयत्न करते हैं तो अपनी बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं और वो अल्प शक्ति बुद्धि वाले व्यक्ति ये सोचने लगे हम अल्प बुद्धि वाले अल्प शक्ति वाले क्या कर सकते वो वहीं पड़े रहते कोई उन्नति नहीं लिए उदाहरण के रूप में आप देखें मुख्य साधन मुख्य पादक कैसे आपको इतना ही करना है कि समस्त विश्व की रचना करने वाला इसका पालन करने वाला इसको प्रलय रूप में परिवर्तित करने वाला सभी जीवों को कर्मानुसार न्यायपूर्वक फल देने वाला ईश्वर है वही इन सभी पदार्थों का निर्माता इनका संरक्षण पालन करने वाला और वही इसका तीन काल में सब कुछ का स्वामी उसने ऐसा स्वीकार कर लिया ऐसा ही भी स्वीकार कर लिया और मन वाणी शरीर से वो व्यवहार में ऐसा ही ले आया तो उसके कितने बाधक परिसमाप्त हो गए और ईश्वर की ओर से उसको कितनी सहायता मिलती है जिससे सारे बाधकों का विनाश सामर्थ्यों की उपलब्धि होती है अब आप जकड़े हुए कहां हैं मैं और मेरे में अब इसमें जकड़े हुए हैं आपको ऐसा बांध रखा है किस है मैं और मेरे और मैं और मेरे को किसी ने बांध रखा है नहीं पता चला अविद्या को किसी ने बांध रखा है आत्मा ने बांध रखा निजम ने अंतिम पद तो ही आप है अविद्या उत्पन्न की तो आपने की मैं और मेरे को उत्पन्न किया तो आपने किया ये सारे अनर्थ आप करते नाम अविद्या का लेते जाते हैं मन इंद्रियों का लेते जाते हैं अब इसमें आपका क्या बिगड़ता कि सब कुछ का स्वामी ईश्वर है उसी ने ये सब कुछ बनाया वही पालन करता है ऋषियों की भाषा में कोई एवं अन्यात क प्राण्यात यदि है आकाश है आनंद होने श्यास क्या समझोगे ऋषि क्या कहते हैं कौन व्यक्ति जी सकता है कौन चेष्टा कर सकता है यदि ये आनंद स्वरूप आकाशवत व्यापक न हो तो कोई जी नहीं सकता कोई प्राण नहीं ले सकता अच्छा ऐसा है ईश्वर तो आप क्यों अट्ठी बन करके अपने आप को जकड़ रहे हो मैं और मेरा पता नहीं ये रोग आपको कहां से लग गया कहां से लग गया आपने लगाया मुख्य कौन कारण है फिर हम्म। आप स्वयं बाधक बने बैठे हैं और कहते हैं कि मैं कर नहीं सकता बड़ी कठिनाई है इस संबंध को तोड़ना जटिल है ऐसी बात बनाते हैं स्वयं अपने आप को फंसा देना और फंसाने के पीछे बंधनों को तोड़ता नहीं मकड़ी की तरह और जाल बनाते रहना पहले तो फंसा लिया अपने आप को कहां फंसाया किसी ने कही और किसी ने कही फंसा दी और फिर उसके ऊपर और ज्यादा मकड़ी जैसे बांध की जाती है और कहता है जी बड़ा कठिन है बड़ा कठिन है बड़ा ही कठिन है <laughs> एक एक बंधन उस पर लगाता जाता है और कहता जाता बड़ा ही कठिन है बड़ा ही कठिन है अब बताइए इसमें भूल मूल में क्या रहती है आपने कोई सत्य की खोज नहीं की अंतिम सत्य क्या है तीन काल में इसको नहीं जाना इसी के लिए आपका जीवन समर्पित नहीं है ये यहां से समस्या खड़ी होगी जिस व्यक्ति ने ये मन बनाया अंतिम सत्य क्या है तीन काल में एक ही उदाहरण में अंतिम सत्य क्या ये है सब कुछ का ईश्वर बनाने वाला है उसी की सारी वस्तुएं हैं हम उसके प्रयोग के अधिकारी हैं ये अंतिम सत्य है अथवा हम भी इसके स्वामी हैं हम इसको बना सकते हैं अपने सामर्थ्य से हमारा स्वामी बनने का अधिकार है क्या हम कहें कि हम इसके मुख्य स्वामी हैं या ये सत्य है एक उदाहरण है क्या सत्य है इसमें इस व्यक्ति ने ऐसे खोजने की जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही भी गवेषणा कर लेता तो अंतिम परिणाम पर पहुंच जाता वास्तव में मैं इसका स्वामी जैसे मैं मानता संसार के लोग मानते हैं ये मानना अन्याय है अनधिकार चेष्टा है ये घातक है अनुचित इसको नहीं मानना चाहिए जहां शंका उभरती है उनका भी समाधान है चाहिए कि वास्तव में हम इन पदार्थों के स्वामी या इनके मालिक या इनके प्रमाणाधिकार इसके लिए सोचना चाहिए ईश्वर के बनाए पदार्थों को हम प्रयोग में लाते हैं उनको उन्नत करते हैं उसको सुसंस्कृत करते हैं हम उनको व्यवस्थित करते हैं विविध लाभ उठाते हैं ये हमारा धर्म है कर्तव्य है और ये जीव के जो कर्म है जीव ने भी उसमें अपना सहयोग दिया है शरीर को स्वस्थ रखना स्त्री को बलवान बनाना बुद्धि बढ़ाना आदि आदि जीव का सहयोग है उसमें पर वो सहयोग इतना उसको गणने लग जाए कितना है तो उसका एक अंश कितना है ये निकालना कठिन हो जाएगा इतना कम है, सही हो और वो ऐसा चला जाता है ऐसी स्थिति में वो नए के बराबर जैसा होता है शरीर की नाड़ियां विशेष अंग इनके निर्माण में मैंने और आपने कौन सा ऐसा उपादान कांड छांट के लगाया कि ये यहां लगाओ ये नाड़ी ऐसे बनेगी ये नाड़ी ये काम करेगी ये ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं बनाया नहीं कैसे बन गए यद्यपि ये नाड़ियां हैं इनको सुरक्षित रखना वही खाना विपरीत न खाना रोगी हो जाए तो डॉक्टर वैद्य से सहयोग देना ये हम इसका सहयोग करते पर आगे बढ़ जाओ थोड़ी ये सहयोग हम अपने ही ज्ञान विज्ञान से करते हो अपने ही बल से करते हैं वैसा नहीं समझ में आया नहीं क्या समझ में आ रहा ये सहयोग हम किसकी सहायता भी करते हैं देखते हैं तो ईश्वर की सहायता से त्वचा से छूते हैं तो ईश्वर की सहायता से विचारते हैं तो ईश्वर की सहायता से जो ज्ञान नैमित्तिक ज्ञान है तो ईश्वर की सहायता से उस सारे को लेकर के तब आप इस शरीर को सुरक्षित रखने में सहायक होते अब इस ओर चलो फिर वही बात हमारा नाम मात्र का सहयोग इसमें रहता इतना कम अब ये व्यक्ति इस स्थिति को न समझ करके ऐसा इसको जटिल बना दिया कठिन बना दिया बस ये हो भी नहीं सकता शायद ऐसा दिमाग ईश्वर तक पहुंचा अब यदि इसको समझ लिया जाए सत्य क्या है चीन काल में और फिर वैसा ही इसका प्रयोग किया जाए तो ये मान्यता एक ही मान्यता आपके जीवन को कितना उन्नत बनाएगी कितनी उपलब्धि होगी कितने दोष दूर होंगे आपके ये कल्पना करके समझा जा सकता हम देखते हैं कि शरीर के विषय में प्राणियों के शरीरों के विषय में फिर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के विषय में कभी व्यक्ति इतनी गंभीरता से विचार नहीं करता क्या ये शरीर आदि नाशवान पदार्थ है और शरीर से आगे पूरे पर्वत और सूर्य चंद्र क्या ही नाशवान पदार्थ हैं और जब ये नहीं बने थे तो इनकी क्या स्थिति थी और या बने ही बनाए चले आ रहे हैं ये बात है या बने ही रहेंगे क्या ये बात है इस सत्य की गवेषणा व्यक्ति नहीं करता जब नहीं करता तो उसका दिमाग परिवर्तित होकर उन्नत नहीं होता नहीं हो सकता आपने सुना होगा कहीं पढ़ा भी होगा एक बहुत बड़ा जन समुदाय बुद्धिमान विद्वानों का यह मानता है कि ये सृष्टि ज्यो की ट्यूपनी बनाई है ये बनती कभी भी नहीं और ये कभी बिगड़ेगी भी नहीं अनंत काल तक रहेगी जब वो इतने बड़े विद्वान की समस्या में अपने आप को नहीं सुलझा रहे हैं नहीं सुलझा पाए तो आप कैसे बिना परिषद में सुलझा रहे हैं अब ये शरीर आदि पृथ्वी आदि यदि नाशवान है और नाशवान होने पर क्या स्थिति होती है और कैसे ये नाशवान हो जाएंगे आगे अब वो जो नाश होने के पीछे कौन देखेगा कौन सुनेगा हमारे में से कोई भी नहीं ना देखेगा ना सुनेगा ना पता चलेगा जब ये नहीं था तो कौन देखता था कौन सुनता था कौन विचारता था कोई भी नहीं ना कोई सुनता था ना देखता था शून्य ऐसी अंधकार में भी ऐसे पड़ा था अब फिर वो देखता है ये संसार ऐसे था और वैसे ही फिर होगा अच्छा अब वो जानना चाहता है कि जब ऐसा हो जाएगा तो कैसा दिखाई देगा <laughs> क्या समझा जो प्रलय था पहले अब ऐसा ही होने वाला है और वो ये सोचने लग जाए तो अरबों पुरुषों के पीछे होगा क्या सोचना है क्या चिंता करनी है इतने दिन में कौन जीता है कौन मरता है क्या करेंगे सोच के अब यहां पर उसका कार्य अवरुद्ध है उन्नति अवरुद्ध है विकसित नहीं हो सकता इस परिश्रम के किए बिना इसके सत्या सत्य के निर्णय किए बिना विकसित हो ही ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती वो विचार का विचारता यहां पहुंचता है कि अब दो वर्षों का काल भले ही हो जब निश्चित हो गया कि ऐसी ही स्थिति होगी ऐसी ही थी तो उसके विचार के अंतर्गत एक तत्व आएगा एक मान्यता खड़ी होगी कि जब ऐसा ही है तो वो इतना लंबा काल उसको ऐसा दिखाई देगा जैसे सेकेंड होता उदाहरण दूसरा ईश्वरी के विषय में सोचिए आप क्या शरीर नाशवान है और नाशवान होने पर जो स्थिति होती है वो कैसी होती है कहते हैं कि ऐसी होती है जैसे लोग मर जाते हैं दाह संस्कार कर देते हैं और उसका एक एक कोई अंश दिखाई नहीं देता मरे हुए व्यक्ति का कोई ढूंढना चाहे तो भी नहीं ढूंढ सकता क्या मेरे शरीर की ऐसी स्थिति होगी पहले तो यह निश्चित होना कठिन ये होगी या सर कैसा है बोलो आप आप बोलो अजी असंभव नहीं ये पुरुषार्थ आप नहीं करते तो यही यही नहीं कर सकते तो पृथ्वी जलवायु का प्रलय कैसे कर सकते हैं आप अब विचारक व्यक्ति क्या करता है वो कहता है मैं बीस वर्ष जीऊंगा चालीस या पचास कल्पना करो सौ तक पहुंचे जाओगे फिर भी वही स्थिति यानी राख ऐसे ही होनी है जैसे उस व्यक्ति की होगी कहता ऐसी होनी हाँ पचास साठ वर्ष देखे उसने और पचास साठ वर्ष में निर्णय जो हुआ हां निश्चित होगा तो वो निश्चित होगा जब स्थिति आएगी वो ऐसा दिखाई देगा जैसे सेकंड में वो खास साठ वर्ष या नहीं जितती है बात तर्क से कुछ तो जस्ता होगा अब भौतिक तरफ है वो सारे के सारे को शरीर आदि को प्रलय की स्थिति में देखता है वही अंश दिखाई नहीं देता और सारी स्थिति ऐसी दिखती जैसे आकाश में चल रहा हो जब इसका विनाश कर देता शरीर प्राणी मात्र वृक्ष आदि भूमि आदि का विनाश कर देता बौद्धिक स्तर अब वो बौद्धिक पर यदि वास्तव विनाश कर देता है तो कोई चित्र तक भी दिखाई नहीं देता अब जो आप कहते हैं चित्तवृत्ति निर्बोधा ये जो हम कहते हैं ये बात योगेश में निरोध है अब यदि ऐसा वो कर देता तो कोई छठ चित्तवृत्ति निरोध दिखाई देगा उपलब्ध हो जाएगा नहीं तो नहीं अब ये कौन नहीं कर रहा आप नहीं कर रहे हो कौन रुकावट डाल रहा इसी के लिए आपका जीवन हम कस्टम का जीवन है और उसी का हम करते हैं अब ये बेकार की बातों में पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करता जीवन भर एक गधे की तरह भार करता इतने कोठियां बनाता इतनी कारें इकट्ठी करता इतना धन इकट्ठा करता और लगा ही रहता है लगा ही रहता है जब तक शरीर का अवसान न हो जाए तब तक लगा ही रहता है और फिर गया तो गया वो पड़ा रहेगा धन संपत्ति जो साधन है इसमें कोई बात विवाद नहीं धन संपत्ति हमारे शरीर का साधन वो तो चाहिए वस्त्र ठीक है इसमें तो बॉडी विवाद नहीं पर उसके लिए इतना लगाना समय उसी के लिए लगे रहना और जो जानना था उसके लिए कुछ भी नहीं करना और जो इसमें इतनी विद्या इतना गवेषणा करके वो मर जाता तो अगले जन्म में तत्काल विकास हो जाता तत्काल ईश्वर को हो जाता थोड़े ही विचार से प्रगतिशील हो जाता वो व्यक्ति वो संपत्ति साथ लेके जाता और ये केवल ये चीजें इकट्ठी करके के मर गया तो मनुष्य का जन्म भी मिलना कठिन और पशु का मिल जाएगा और मनुष्य का मिल भी गया तो धीरे धीरे इंद्रियों के भोगों में जाके तल्लीन हो जाओ मनुष्य का मिल भी जाए तो अब और देखो बाधाएं दिन भर व्यक्ति सुख और सुख के साधनों के लिए लालाई रहता अब सुख और सुख साधनों की रहे रहना ये ईश्वर प्राप्ति में बाधक है और इस बाधक को व्यक्ति हटा सकता है और हटाता है जब हटाता नहीं तो आप वहीं खड़े रहेंगे बीस वर्ष तक जहां आज खड़े दूसरे अंक को लेते चलिए शरीर को स्वस्थ बनाओ बलवान बनाओ बुद्धि को बढ़ाओ अच्छी चीजें खाओ इसका निषेध नहीं है ईश्वर तक पहुंचने के लिए है इनका सुख नहीं लेना मैंने खाने पीने की चीजों का नहीं ये का संतुलन है प्रयोग है भोगी व्यक्ति इसके भोग के लिए मारता दौड़ धूप करता और ये योगी व्यक्ति इनका प्रयोग है बल के लिए बुद्धि के लिए जीवन सुरक्षा के लिए करता दोनों मंत्र इतना ही तो अब यदि इन सुख और सुख साधन के राग को हटाया न जाए और राग और द्वेष भी इसको बराबर बनाया रहे राग होगा तो दुख और दुख साधनों से द्वेष भी ऐसा ही बना रहेगा सुख और सुख साधनों में राग दुख और सुख साधन में द्वेष दुख और दुख के साधनों में द्वेष सतत बने रहे और ये दोनों के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाता रहेगा राग की पूर्ति नहीं होनी द्वेष नहीं हट सकता दौड़ लगाते रहो यदि राग को व्यक्ति समाप्त कर सकता है तो द्वेष स्वतः समाप्त हो जाता है अच्छा ये बताओ जो खीर बनती है जिस दिन हलवा बनता है आपको उसमें इच्छा होती है या नहीं कि भाई आज, आनंद आएगा खीर खाते जगह हलवा आज आनंद आएगा ऐसा मन बनता है नहीं बनता आप बोलिए हम्म? आप बोलो बनता है आज आप बोलो बीच बीच में कभी होता है कभी नहीं भी होता नहीं क्यों होता पहले से विचार कर लेते हैं कि इसमें चार प्रकार के दुख है और ये सदा नहीं मिलने वाली है तो कुछ देर रुक जाता आने में भी होता है तो कितना होता है रुकता कभी भी नहीं कभी कभी रुक भी जाता है रुकता भी है कई बार उसका त्याग भी कर देते हैं कि अब है ना ये बंधन का कारण है तो अब नहीं खाएंगे हाँ जी विषय जी हाँ जी बोलो कभी कभी होता है कभी कभी रुक देता हूँ सोचता हूँ इसमें छह हाँ जी धर्मवीर जी कम मात्रा होता है अच्छा वो जो आपको पूरा का पूरा दुख दिखाई दे देता ही रहे ऐसी स्थिति नहीं बन पाती क्या हुँ? हम्म? क्या नहीं बोलो नहीं। पूरा दुख नहीं दिखाई देता पूरा दुख दिखाई दे और दुख दिखाई देने की स्थिति बनी रहे पूरा संसार नाशवान दिखाई दे और नाशवान स्थिति बड़ी दिखाई देती है संपूर्ण विश्व का ईश्वर स्वामी दिखाई देता रहे दिखाई देने लग जाए और वो दिखाई देता रहे आपने देखा सत्य की गवेषणा करने वालों को देखा सुना आप देख सकते हैं महर्षिदान सरस्वती के जीवन को कैसे खोज करते हैं गुरु की खोज करते जा रहे हैं कहीं न कहीं पहाड़ों को छान मारा जब वहां कुछ भी नहीं होता था वो अलखनंदा का किनारा अलखनंदा की जान निकलती है वहां दो नालियां हैं छोटी छोटी नालियां होती हैं आरंभ में ऊपर से आती हैं ये बद्रीनाथ से लगभग बारह किलोमीटर ऊपर है अलखनंदा के स्रोत और उनमें से उसमें निकले होंगे कितना भयंकर बर्फ ने काट डाला था मरने को गिरने को हो गए थे और बड़ी कठिनाई से बाहर निकल के गिर गए दबा लिया पैरों को जैसे तैसे दो पहाड़ी व्यक्ति आए कहीं हमारे साथ चलो वो नहीं गए बर्फ खाई जैसे कि प्यास और, और खोज करते जा रहे रुकते ही नहीं एक वो उसी में आती है भयंकर पीड़ जंगल होते हैं ना जिसमें ना उठ के चल सकते ना बैठ के चल सकते शरद की तरह घिसर घिसर के चलते और सारे कपड़े जीव और सारी चमड़ा भी भूसा उखाड़ ज्यादा उनके पार आप यहां बैठे रहते हो कितनी सुविधाएं कितने पढ़ाने वाले हैं कितने सिखाने वाले हैं और वहीं पर कछुए की तरह वहीं पर इधर हले उधर हले वहीं पड़े फिर उधर से इधर हले उधर हले वहीं पड़े ये राग द्वेष काम क्रोध अज्ञान आदि कुसंस्कार ही हमारे व्यक्तिगत गुण नहीं है क्या समझे आप अज्ञान काम क्रोध लोभ मोह आदि ये दोष ये हमारे घर के हैं क्या अपने हैं क्या हैं क्या हमने इकट्ठे कर रखे ऐसे बन गए जैसे हमारा अंग है ऐसे बने हुए अब ये समझता नहीं ये तो प्रकृति के हैं सबके सब और हमने इनको ऐसा बना लिया अब ये पता चल जाए तो उनका हटाने में सुविधा सरलता नहीं वो इसमें विचार ही नहीं करता स्वभाव बन गया क्रोध करने का कामनाओं का वासनाओं का स्वभाव से बढ़ रही जैसे तो इन बातों को ऐसे सोचना जानना चाहिए बादल आ गया क्या नहीं जनाब पता चला भौतिक विज्ञान बताऊं सुना था पहले आज भी शरीर पर प्रभाव पड़ेगा जब बादल होंगे अथवा कुछ बूंदे पड़ेंगी तो अधिक फिर कुछ वर्षा होगी तो अधिक अधिक वर्षा होगी तो बार बार शरीर के अंदर विशेष अनुभूतियां कैसे जैसे कांटे चुभते नहीं और आज भी चुभे थे कल भी चुभे थे इनकी मात्रा जो ना अधिक होती क्षेत्रों का भी भेद है यदि इतना प्रभाव इसने कांटे नहीं देहरादून में चुक जाए तो वर्षा निश्चित वातावरण है निसंदेह और राजस्थान में <laughs> बहुत कांटे चुकने पर भी हो सकता है मुश्किल से कोई बादल हो अंतर दोनों नहीं आ सकते बहुत कांटे से चुकने पर भी हो सकता है मुश्किल से थोड़ा सा बादल हो थोड़ी सी बूंदे आए आपको भी होती है अनुभूतियां है हाँ जी बताओ तो है हाँ जी क्यों नहीं होती आप ध्यान ही नहीं देते होंगे होती तो होंगी ऐसा नहीं है हाँ? होता तो होगा कुछ नहीं कुछ फूल लक्षण तो दिख जाते हैं स्वामी जैसे अभी ये थोड़ा सा ऐसा गया कि बादल आ गए लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कांटे आते हैं वो ऐसा तो कुछ नहीं सांपों जैसे सुअर देखे ना पड़े हुए आपने ऐसी आंखें बने लतपते गारा में नगरों देखे ना पड़े रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता त्वचा तो में इतना वो वो होता है गारा लगी हुई है आंखों में मुश्किल दिखाई देता है ऐसे पड़े रहते आपको पता ही नहीं चलता क्या प्रभाव पड़ता है <laughs> या नहीं वो आया ना वो अक्षी पात्र कल कोई विद्वानी नहीं समझे आप क्या समझ में आया अक्षी पात्र कल्पो ही क्या नेत्र रूपी पात्र के समान विद्वान होता है इतना कोमल इतना संवेदनशील होता है <laughs> आंख में बाल लगे तो आंसू आए और एडी में लगे तो कुछ नहीं घिसाते रहो पुरुष का पुरुष पता चलेगा तो आपका तो एटी की तरह है सारा हृदय सारा मन जैसाते से कोई पता नहीं चलता शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है मन पर क्या प्रभाव पड़ता है रात में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है समाधि लगती है तो क्या प्रभाव पड़ता है कुछ भी पता नहीं इन बातों को समझना इनको दूर करना और जो साधनों को अपनाना सत्य के लिए गवेषणा करते हुए जीने का इच्छुक रहना तो सब कुछ कर सकते हैं तो कर लोगे सब कुछ आप ये कहेंगे हां पूर्ण रूपेण हम पर लगाएंगे इतना तो कर लोगे है और पूर्ण रूपेण बाद को दूर उखाड़ेंगे फेंकेंगे अब फिर कोई चिंता की बात नहीं अल्लाह